ये माना कि कठिनाई आने से आदमी अकेला हो जाता है पर यह भी सत्य है कि कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा जोशी है मैं जीवन ज्योति शिक्षण संस्थान में विगत चार वर्षों से प्राचार्य का पद निभा रही हूँ ये संस्थान को इस वर्ष पचास वर्ष पूर्ण हुए हैं संस्थान गरीब बच्चों के लिए कार्य करता है सभी को शिक्षित करना हमारा परम कर्तव्य है जिसको कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा उसे जीवन ज्योति में एडमिशन दिया जाता है ऐसा श्रीमती कृष्णा अग्रवाल जी जो कि हमारी संस्थापिका रही हैं उनका सोच थी और उसी पर हम आज तक चल रहे हैं और हम ये चाहते हैं जीवन ज्योति के विद्यार्थियों के माध्यम से हम संपूर्ण विश्व में नाम कमाएं और आगे बढ़े आप सुन रहे हैं रेडियो सरगम 90.8 एफएम सुनो दिल से रोह की सास बन रूह की दबी आवाज सुन कुछ तो नए एहसास बन छोड़ के तो झूठी ख्वाहिशें महसूस कर अपने वक्त की धुन तुझी ना नमस्कार आप सुन रहे रेडियो सरगम 90.8 पॉइंट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में और हम लोग यहाँ के लोकल टैलेंट जो लोग हैं जो संगीत के साथ जुड़े हुए हैं संगीत उनका एक इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है रुचि वाला सब्जेक्ट है अपना पैशन है अपना कार्य करते हुए अपने प्रोफेशन को संभालते हुए अपने पैशन को भी वो कहीं ना कहीं समय देते हैं तो ऐसे लोगों से हम लोग मिल रहे हैं और उनमें से आज हमारे बीच हैं श्रद्धा जी जो यहाँ पर सिलिकॉन सिटी में ही रहती हैं एज ए एडवोकेट वो अपना काम भी करती हैं जज की तैयारियाँ भी कर रही हैं और इसके साथ में उनका पैशन है गाने का तो गाने में गीत गज़ल और भी बहुत सारी चीज़ें वो करती हैं तो आप सभी की तरफ से श्रद्धा जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार मैं श्रद्धा नागर सिलिकॉन सिटी से हूँ मैंने एडवोकेट की एग्ज़ाम दी है और जज की तैयारी भी कर रही हूँ मैं और गाने का मुझे बचपन से ही बहुत शौक रहा है बस ये है कि मुझे आ, कभी मंच नहीं मिला जो मैं चाह रही थी तो आज मुझे मौका मिला है ईश्वर की कृपा से आज मैं यहाँ हूँ और मैं एक सॉन्ग गाना चाहती हूँ आपकी नज़रों ने समझा प्यार कंठ ठहर जा मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा आपकी मंजिल हूँ मैं मेरी मंजिल आप हैं आप हैं क्यों मैं तूफान से डरूं मेरा साह आप हैं कोई तूफानों से कह दे मिल गए कंठ है जा मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ पर परछाइया हर तरफ बजने लगे सैकड़ों शहनाइया दो जहाँ की आज खुशियाँ हो गई हास मुझे दिल धड़कन ठहर जा धन्यवाद चलिए श्रद्धा जी ने बहुत ही सुंदर गीत प्रेजेंट किया आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है बहुत ही सूदिंग वॉइस है काफ़ी प्रैक्टिस उन्होंने की है और अच्छा प्रेजेंटेशन हमारे बीच में किया और चलिए इसी सिलसिले को जारी रखते हैं आगे बढ़ते हैं आप सुनाए हैं रेडियो सरगम 90.8 एफएम सुनो दिल से सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार ऐ स्वराज अधिकारियों ऐ स्वराज अधिकारियों स्वागत सौ सौ बार रचा है संगम युग का दिव्य राज दरबार आपके नयन में आप में बाबा बसता है தம் பா विभूतियों को देवी देव हर्षा रोज घट रही है वो है आयु एक चीज जो रोज बढ़ रही है वो है तृष्णा एक चीज जो सदा एक सी रहती है वो है विधि का विधान एक सुखद जीवन के लिए मस्तिष्क में सत्यता होठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता जरूरी है जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है नमस्कार मैं Brahma Kumari Aarti zone incharge Indore zone आप सुन रहे हैं रेडियो सरगम 90.8 पॉइंट सुनो दिल से पल किसी पे मोती ही तू चुने जो तू सदा सुने अपने खुलो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष कार्यक्रम में और रेडियो सरगम 90.8 एफएम को आप सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और जैसे कि श्रद्धा जी ने एक बहुत ही खूबसूरत लता जी का गीत अपनी आवाज़ में गाया आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा और उसके बाद हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर लौटे हैं और फिर से मैं जोड़ना चाहूँगा श्रद्धा जी से आप सभी को और उनके पास एक गज़ल भी है जो अच्छी तरह से हम सभी को सुनाने वाले हैं तो आइए अब श्रद्धा के द्वारा एक गज़ल का आनंद उठाते हैं आप सुने हैं रेडियो सरगम सुनो दिल से मुझे खुशी है कि आज मुझे ये मौका मिल रहा है यहाँ पर एफएम में गाने के लिए और मुझे आशा करती हूँ मैं कि जिस तरह से आपको मेरा गाना पसंद आया वैसे मेरी गज़ल भी पसंद आएगी सोचा नहीं अच्छा बुरा देखा सुना कुछ भी नहीं सोचा नहीं अच्छा बुरा देखा सुना कुछ भी नहीं सोचा नहीं अच्छा बुरा देखा सुना कुछ भी नहीं सोचा तुझे देखा तुझे चाहा तुझे पूजा तुझे सोचा तुझे देखा तुझे चाहा तुझे पूजा तुझे मेरी वफा मेरी खता तेरी खता कुछ भी नहीं सोचा नहीं अच्छा बुरा देखा सुना कुछ भी नहीं एक शाम के साए तले बैठे रहे वो देर तक एक शाम के साए तले बैठे रहे वो देर तक आँखों से की बातें बहुत मुँह से कहा कुछ भी नहीं मांगा खुदा से रात दिन तेरे सिवा कुछ भी नहीं सोचा नहीं अच्छा बुरा देखा सुना कुछ भी नहीं एहसास की खुशबू कहाँ आवाज़ के जुगनू कहाँ एहसास की खुशबू कहाँ आवाज के जुगनू कहाँ खामोश यादों के सिवा घर में रहा कुछ भी नहीं मांगा खुदा से रात दिन तेरे सिवा कुछ भी नहीं सोचा नहीं अच्छा बुरा देखा सुना कुछ भी नहीं थैंक यू सो मच तो बहुत ही खूबसूरत गज़ल का आनंद आपने लिया श्रद्धा की आवाज़ में आशा करता हूँ आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो सरगम 90.8 एफएम को सुन रहे हैं दिल से <laughs> तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि कहा जाता है कि जिस तरह से हम लोग बातें करते हैं गीत संगीत की जब बात चलती है गज़लों की बात चलती है तो कहीं ना कहीं कुछ खूबसूरत शब्दों का जो संगीत के साथ जब पिरोया जाना होता है तो कहीं ना कहीं हम सब के दिल के तार उस गीत के साथ उस आवाज़ के साथ जुड़ जाता है और ऐसा ही कुछ हुआ होगा आपके साथ फिर लौट के आते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो सरगम सुनो दिल से सबसे पहले इन पे भगवान की नजर पड़ी सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी मेरी आशाओं के दीपक तुमसे ही उम्मीद बड़ी जाने कितनी बार जाने कितनी बार जाने कितनी बार जन्नत ये उतारे हैं ये फरिश्ते जो जमी पे उतरे तारे हैं ये उतरे तारे कितने प्यारे कितने प्यारे हैं ये फरिश्ते जो जमी पे उतरे तारे हैं खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा कहते हैं जन्नत जिसे वो जमी पर आएगा नैनो से नव युग के नैनो से नव युग के नैनो से नव युग के छलकते इशारे हैं ये फरिश्ते जो जमीन पे उतरे तारे हैं ये उतरे तारे कितने प्यारे कितने प्यारे हैं ये फरिश्ते जो जमीन पे उतरे तारे हैं सब सुखी सबका भला ये शुभ संकल्प है सब सुखी सबका भला ये शुभ संकल्प है प्रभु से मिलाना जगत का करना काया कल्प है बेसहारों के बेसहारों के बेसहारों के मसीहा सबके सहारे हैं ये फरी फरिश्ते जो जमीन पे उतरे तारे हैं ये उतरे तारे कितने प्यारे कितने प्यारे हैं ये फरिश्ते जो जमीन पे उतरे तारे हैं ये रूहानी अंजुमन न्यारे नजारे हैं ये फरिश्ते जो जमीन पे उतरे तारे हैं ये उतरे तारे कितने प्यारे कितने प्यारे हैं ये फरिश्ते जो जमीन पे उतरे तारे हैं ये फरिश्ते जो जमीन पे उतरे तारे हैं